बीजानी प्रेक्षावत प्रवृत्त अनुबंध चतुष्टय दर्शयन स्वचिकित्सित प्रतिजाते इदानीम इदानीम का अर्थ वर्तमान अभी प्रेक्षावत प्रवृत्त अनुबंध चतुष्टय दर्शयन प्रेक्षावता प्रवृत्ति प्रेक्षावत प्रवृत्ति प्रेक्षावत अर्थात प्रकर्ष इच्छा विषय धातु है पीछे दर्शन अर्थात जो लोग प्रकर्ष अर्थात बहुत अच्छा देखते हैं बहुत अच्छा देखते हैं बहुत अच्छा विचार करते हैं प्रेक्षापद शब्द का अर्थ होता है बहुत अच्छा विचार करने वाले प्रकर्ष इच्छा अर्थात आंसा बुद्धि और आगे मतुक हो गया मतुक अर्थात ऐसे वाला अर्थात अच्छा बुद्धि वाले इनको साधारणतः शब्द से कहा जाता है बुद्धि पूर्वक कार्य कुछ भी कर्म करते हैं तो चिंता करके सोच करके कर्म करते हैं उनको कहा जाता है प्रेक्षावर नहीं तो उसका बहुत अच्छा बुद्धि है किंतु कार्य करने का समय में तो सब कचरा करता है उसको फिर प्रेक्षा अच्छा बुद्धि वाला नहीं कहा जाएगा कार्यो को देख करके अनुमान किया जाता है कि उसका बुद्धि अच्छा है शिक्षावर शब्द का अर्थ साधारण व्यवहार होता है बुद्धिपूर्वक कार्य अर्थात बुद्धिपूर्वक जो कर्म करता है विचार करके जो कर्म करता है नहीं तो बुद्धि होने का क्या लाभ हुआ कर्म अगर शुद्ध तो करेगा अपेक्षावत ये हो गया बुद्धिपूर्वक कार्य और आगे प्रवृत्ति क्या समाज हुआ इसमें ष्टी चक्षुष प्रवृत्ति हो गया प्रेक्षावत मधु प्रत्येक उनके प्रवृत्ति प्रवृत्ति अर्थात उनके जो कर्म उनके सब कार्य करते हैं वृक्षावदान अर्थात जो अच्छे बुद्धि वाले उनके प्रवृत्ति के लिए तो बुद्धि में अच्छा चीज क्या है कहते बुद्धि में अगर विवेक है तभी बुद्धि अच्छा है क्योंकि तो बुद्धि तो बहुत सूक्ष्म है तीक्ष्ण है किंतु वासना भरा हुआ है सांसारिक उनका बुद्धि कुछ कम नहीं होता है हम लोग का बुद्धि से उनका बुद्धि बहुत अधिक होता है इतना कहाँ लेकर के रॉकेट पहुंचा देते हैं फिर कोई साधु तो कर पाएगा उतना दूर सीधा कर फिर नहीं कर पाएगा उनका बुद्धि तो तीक्ष्ण होता है लेकिन बुद्धि शुद्ध नहीं होता है विवेक नहीं है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये उनका विचार नहीं होता है इसलिए उनको प्रेक्षावत नहीं कहा जाए तो प्रेक्षावत अर्थात उनको तो विचार करके विवेक पूर्वक कार्य में चलते हैं तो उनका प्रवृत्ति प्रवृत्ति अर्थात उनका कर्म अभी मतलब जो विवेक युक्त है उनका कर्म किसमें होगा कहना शास्त्र में होगा और वेदांत शास्त्र में तो प्रेक्षा बताऊ प्रवृत्त प्रवृत्त में क्या विभक्ति हुआ तो उनका प्रवृत्ति के लिए चतुर्थी का अर्थ क्या लिए मतलब अर्थात तो प्रवृत्ति के लिए अनुबंध चतुष्टय दर्शयन अनुबंध चतुष्टय इसमें क्या समाचार होगा तो हो तो जाएगा भी हो जाएगा अनुबंध अनुबंध शब्द का अर्थ हो अनु अनु अर्थात मतलब बंध अर्थात बटनाती बंध कहते जो बांधता तो अनु पश्चात अर्थात बाद में जो बांधता है तो यहाँ कोई भी ग्रंथ में अनुबंध चतुष्टय होता है तो वाईफाई नहीं है इसमें चलता है वाईफाई अच्छा, चलेगा ना आज वाईफाई नहीं है इसलिए मोबाइल डाटा से ही चलता है मोबाइल से तो होता है बाकी लोगों का साउंड क्लियर है बाकी लोगों का साउंड क्लियर है नहीं है संबंध चतुष्टयम संबंध अधिकारी विषय प्रयोजन ये चार को अनुबंध कहा जाता है ग्रंथ का आदि में ये चार कहा जाना चाहिए संबंध अर्थात ये ग्रंथ में क्या संबंध विचार होगा अथवा ये ग्रंथ का जो इस ग्रंथ में विषय है ये इसका क्या संबंध है संबंध यहाँ पता चलना चाहिए अर्थात ये ग्रंथ हम पढ़ेंगे तो हमको ये जो प्राप्त होगा उस पदार्थ का ज्ञान होगा उसके साथ हमारा क्या संबंध होगा ये संबंध यहाँ पता चलना चाहिए संबंध अधिकारी हम ये ग्रंथ पढ़ने के लिए अधिकारी एक है तो ग्रंथ का आरंभ में ये कहा जाना चाहिए ये ग्रंथ पढ़ने के लिए कौन अधिकारी नहीं तो कुछ रास्ता पढ़ने तक तो हमको पता चलेगा हम तो इसका अधिकारी नहीं है हमारा समय और शक्ति व्यर्थ हो इसलिए अधिकारी ये भी पता चलना चाहिए और विषय ग्रंथ का विषय भी आदि में शुरू में करना चाहिए नहीं तो हमारा समय और एक व्यस्त होना और संबंध चालू जाने से विषय से प्रयोजन हमारा इससे क्या लाभ होगा ये ग्रंथ अध्ययन करने से ये चार चीज अनुबंध इनको करना चाहिए नहीं कहेंगे तो ग्रंथ प्रशस्त नहीं होगा विस्तार नहीं होगा लोग उसको ग्रहण नहीं करेंगे जो लोग प्रथम ग्रंथ उठाएंगे देखना उसमें दिखना चाहिए कि क्या क्या है इसमें अगर पता नहीं चलेगा तो कौन उसमें जाएगा यहाँ इस प्रकार हो गया ये चार हो गए इनको कहा गया अनुबंध अनुबंध होने से क्या करेगा पश्चात बदना की बांधेगा किसमें बांधेगा कहते कि ग्रंथ अध्ययन प्रकृति इन पर आएगा ये चार जिसको पता चलेगा वो ग्रंथ अध्ययन करेगा अपना अनुकूल है तो ग्रंथ अध्ययन करेगा तो ग्रंथ अध्ययन में बांधेगा ये हो गया बंध अनुपश्चात अनुबंध चतुष्ट का ज्ञान होने पर ग्रंथाध्ययन में प्रबुद्ध करवाएगा इसलिए इनको चार को अनुबंध कहा गया अनुपश्चात बंध बंधना अनुबंध चतुष्टयन दर्शयन दर्शयन अर्थात दिखाते हुए सत्र प्रत्येक दिखाते हुए स्वचिकित्सितम प्रति जानते स्वचिकित्सितम चिकित्सितम का विग्रह कैसे कहेंगे कर्तुम इष्टम जो करना चाहते हैं कर्तुम इष्टम वो चिकित्सित अभी ग्रंथकार का चिकित्सित क्या है ग्रंथकार भगवान राष्ट्रकार उनका चिकित्सित क्या करना चाहते हैं ये ग्रंथ रचना करना चाहते हैं तो स्व चिकित्सितम अर्थात भगवान भाष्यकार जो करना चाहते हैं कर्तुम इष्टम हो गया ग्रंथ वो ग्रंथ को प्रतिजानिते प्रतिजानिते अर्थात प्रतिज्ञा करती ग्रंथ विषय को प्रतिज्ञा करते हैं भगवान भाष्यकार तो क्यों करते हैं कहने प्रेक्षा बंधुओं का प्रवृति हो जो विचार करके चलने वाले हैं उनका इसमें प्रवृति हो इसलिए ये कहते हैं कह देते हैं कि ग्रंथ का विषय ये है आपका प्रयोजन ये सिद्ध होगा आप इसमें अधिकारी है नहीं है ये सब पता स्वचिकित्सितम जिसमें सन प्रत्यय हो जाता है क्रीधा वो करके इस रूप को बनता है क्रीधा को पढ़ने से जाने क्रीधा हाँ, चिकोषित चिकित्सित चिकीर्षित दीर्घ इकार होना चाहिए चिकीर्षित दीर्घ के सूत्र से हो जाएगा हृदय धातु से कीर हुआ कीर होने के बाद दीर्घ ये रागे से रेपवांत और उपधाया दीर्घो हरि रेपवांत और इको दीर्घो हरि रेपवांत और उपधाया इको दीर्घो धातु धातु का अधिकार में हो दीर्घ हो जाता है फिर उपधा को दीर्घ हो जाता है उपधा करने वाले सूत्र क्या है मोक्ष सिद्धये मोक्ष सिद्ध सद्भिरेव प्रयत्नेन सद्भिरेव प्रयत्न वीक्षणीया मुहुर्मुहुः वीक्षणीया मोक्ष सिद्धये मोक्षानुभूतिर वे अपरोक्षानुभूति इसका अर्थ कहेंगे तो अर्थात तो ब्रह्माकार वृत्ति में प्रतिबिंबित तो होने वाला जो ब्रह्म अर्थात परिच्छेद रहित अपरिचिन्न अपरोक्षानुभूति उसको कहा जाएगा मोक्ष सिद्ध है प्रोक्ष थे ये अपरोक्षानुभूति क्यों कहा जाएगा मोक्ष का सिद्धि के लिए मोक्ष सिद्ध है प्रातिपदी का क्या है मोक्ष सिद्धि मोक्ष सिद्धि समास मोक्ष से सिद्धि तो मोक्ष का सिद्धि के लिए ये अप्रोक्षानुभूति कहा जाता है अभी पता चला कि ग्रंथ का प्रयोजन क्या है मोक्ष सिद्धि और ये ग्रंथ में विषय क्या है अप्रूप से अनुभूति जो अखंडाकार ब्रह्म और सदगी प्रयत्न मूल मुहु वीक्षणिया सदगी सत्पुरुषों के द्वारा सत्पुरुष पुरुष सत हो जाएगा जब मुमुक्षु तो सदगीर अर्थात मुमुक्षु जो मुमुक्षु है के द्वारा सदगीर एवं एवं कहते हैं अर्थात संसारियों के द्वारा नहीं है ये ग्रंथ ये केवल मुमुक्षुओं के लिए ही ग्रंथ है संसारियों के लिए नहीं है और मुमुक्ष उसको देखेंगे कहें ठीक है पढ़ देंगे एक बार सुन लिया हाँ सुन लिया पढ़ लिया हाँ पढ़ लिया प्रयत्न है ना अर्थात वो उसका तत्व ग्रहण हो जाना चाहिए प्रयत्न है ना अर्थात सारे श्रम का निराकरण पूर्वक तत्व का अनुभव पर्यंत तो। मुहुर्मुहु वीक्षणीय मुहुर्मुह का भाव बारम्बार इसको विशेषण ईक्षण ईक्षण अर्थात दर्शन अर्थात अध्ययन करके मनन करना चाहिए वीक्षणीया अनुभूति स्त्रीलिंग है इसलिए वीक्षणीया ताप विशेषण ईक्षणीया विशेष रूप से इसका विचार करना चाहिए मूल मुहु बार बार तीनों के लिए श्रवण है तो श्रवण तो बार बार करना चाहिए कब तक करना चाहिए ज्ञान ही हो असत्य उपदेशा ये बार बार उपदेश किया गया है छांदो के उपनिषद में आता है तत्व तो मसीह प्रकरण में पिता उद्धार पुत्र श्वेत देव को तो नौ बार तत्व तो मसीह उपदेश करते हैं तो इसको प्रमाण देते हैं कहते हैं बार बार सुनना चाहिए कब तक कहते हैं जब तक श्वेत बिंदु को ज्ञान नहीं हो गया तब तक पिता बेहतर है इसी प्रकार की ये सब ज्ञान होने पर्यंत इसका श्रवण करते हैं टीका में गई थी विद्युत अनुभव प्रमाण व्यति अपरोक्षानुभूति वही कहा गया तो अपरोक्षानुभूति ऐसा कोई पदार्थ है क्या कहते हैं है कैसे कहते हैं विद्वत अनुभव प्रमाण व्यति विद्वत अनुभव समाज कैसे देंगे विद्वत का प्रातिपदिक क्या हो जाएगा विद्वस प्रातिपदिक ष्ठी पशु हो संप्रसारण वह संज्ञा होगा सृष्टि में वह संज्ञा होने से वसु संप्रसारण से बस को संप्रसारण होगा तो बस में संप्रसारण व को होगा स को होगा व को तो व को संप्रसारण होने से क्या होगा वो हो जाएगा तो विद अरे बस था बस का व को वो हो गया तो क्या हो जाएगा विदुष तो अभी बस का जो सकार था अब एक है बस प्रत्यय था उसका जो सदार था अभी के पर में आने से वो सदार को तो बस में दंता स था अभी उसका पूर्व में ऊ हो गया तो होने से सब को किस सूत्र से बस का सदार को मुझे आदेश प्रत्यय तो आदेश है ना प्रत्यय है प्रत्यय आदेश प्रत्येक से ये सकार हो गया तो हो गया विदुष विदुष आगे ष्ठी ष्ठी में विभक्ति क्या है नस क्या बचेगा नस तो अभी ष्ठी में क्या रूप हो जाएगा विदुष तो यहाँ पे हो जाएगा ष्ठी होने से कैसा विग्रह कहेंगे विदुष अनुभव अर्थात विद्वानों का अनुभव अपरोक्षानुभूति ऐसा पदार्थ है इसमें विद्वानों का अनुभव प्रमाण है विद्वान अर्थात ज्ञान है शास्त्र में जिनको विद्वान शब्द से कहा जाता है अर्थात ज्ञान है जिनको ज्ञान नहीं हुआ किन्तु शास्त्र का ज्ञान है उनको कहा जाएगा श्रोत्रिय शास्त्र जानते हैं किंतु उनको अपरोक्ष ज्ञान नहीं हुआ है तो उनको श्रोत्रिय कहा जाएगा जिनको ज्ञान हुआ है उनको विद्वान कहा जाएगा विद्वानों का अनुभव इसमें प्रमाण देते हैं कौन सा शब्द के द्वारा प्रमाण दिया जाता है वही वही वही अव्यय है ये प्रमाण देता है कि अर्थात अप्रोक्षानुभूति ऐसा पदार्थ है क्योंकि ज्ञानियों को अनुभव है तथा च अयम अर्थ अर्थ अर्थ अभी अपरोक्षानुभूति व्यय व्यय शब्द से प्रमाण हो गया ज्ञानियों का अनुभव है अभी अनुभूति क्या चीज है इसमें ज्ञानियों का प्रमाण देते हैं उसके लिए कहते हैं विद्वत अनुभव प्रसिद्धा या तत्वस्यादि महावाक्य श्रवणगा प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषया अपरोक्षानुभूति विद्वत अनुभव प्रसिद्धा विदुषाम अनुभव इति विद्वत अनुभव आगे विद्वत अनुभव आगे प्रसिद्ध अथवा तेषु प्रसिद्ध ऐसे विद्वानों में प्रसिद्ध है हम इस प्रकार कहते हैं विद्वानों में प्रसिद्ध है एवं तो विद्वत अनुभव विद्वत अनुभव प्रसिद्ध तो विद्वत अनुभव है न प्रसिद्ध है कैसे हाँ, विद्वत अनुभव है न प्रसिद्ध है विद्वानों का अनुभव वो अनुभव से प्रसिद्ध है या अनुभव प्रसिद्धा ये पुलिंग कहता है स्त्रीलिंग को कहता है स्त्रीलिंग क्यों कहते अनुभूति तो स्त्रीलिंग शब्द या महावाक्य श्रवण जा तत्वमस्यादि महावाक्य हो गया तो तत्वमस्यादि महावाक्य क्या समास होगा कर्मधारय जो तत्वमस्यादि है वही महावाक्य है तत्वमसी महावाक्य आगे तत्वमसी महावाक्य श्रवण इसमें क्या समाज होगा ष्ठी ष्ठी तत्वमसी आदि श्रवण आगे तस्मात जायते उससे उत्पन्न होता है जैसे कहते हैं पंकज पंका जायते पंकज इसी प्रकार पंक से जो उत्पन्न होता है पंक होता है कीचड़ पंक से जो उत्पन्न होता है उसको पंकज कहेंगे इसी प्रकार के तत्वमसी आदि महावाक्य श्रवण से जो उत्पन्न होगा उसको तत्वमसी आदि महावाक्य श्रवण का वो कौन है कहते हैं प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषया अपरुषानुभूति प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषया घटक पद चार है ये एक पद है प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषया एक पद है उसमें घटक पद कितने हैं चार चार वो पद का अंदर में कितने चार हो गए अभी उनका समाज देखेंगे प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषय न भिन्न के अभिन्न पहले प्रत्येक रहेगा अच्छा ठीक है न भिन्न के अभिन्न ठीक है ठीक है कहते हैं कि राम से अभिन्न इस प्रकार कहते हैं तो वास्तविक राम से हम पंचमी कह देते हैं वो पंचमी नहीं है रामेण अभिन्न इस प्रकार तो तृतीय होगा जैसे हम भिन्न कहते हैं तो रामार भिन्न इस प्रकार कहेंगे किन्तु जब अभिन्न कहेंगे रामा तो अभिन्न नहीं कहा जाएगा हाँ, क्योंकि पंचमी कहे थे तो आप तो अलग तो कर ही दिए इसलिए रामायण अभिन्न ऐसा कहा जाएगा तो प्रतीचा अभिन्न इसको हो गया प्रत्यय अभिन्न आगे प्रत्येक अभिन्न जो जो प्रत्येक अभिन्न है वही ब्रह्म है तो यहाँ क्या समझ हो जाएगा तो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म तो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषय अनुभूति हो गया क्या समाज करेंगे गौरी अर्थात प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषय स्त्रीलिंग है तो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म विषया तो प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म को विषय करने वाली तो इसका विषय क्या हो जाएगा अपरोक्ष हाँ। प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ये विषय होगा हमको घट ज्ञान हुआ तो घट ज्ञान का विषय क्या होगा घटक इसी प्रकार की हमको एक ज्ञान हो रहा है जिसका विषय हो जाएगा प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म तो ये ज्ञान का नाम क्या होगा प्रत्येक अभिन्न ब्रह्म ज्ञान तो ब्रह्म कैसा है कहते प्रत्येक अभिन्न प्रत्येक अर्थात मैं अर्थात मेरे से अभिन्न जो ब्रह्म इस ब्रह्म का ज्ञान उसको कहा जाएगा अपरोक्षानुभूति तो अर्थात अपरोक्ष अनुभूति इस प्रकार कहते हैं अर्थात ब्रह्म अपरोक्ष है अपरोक्ष अर्थात प्रत्यक्ष ब्रह्म प्रत्यक्ष है उसका अनुभूति अनुभूति अर्थात जैसे घट की अनुभूति अनुभूति अर्थात ज्ञान घट का ज्ञान इसी प्रकार की अपरोक्ष जो ब्रह्म है उस ब्रह्म का ज्ञान अभी ये ब्रह्म ज्ञान को अपरोक्ष अनुभूति कहा गया और अपरोक्ष अनुभूति में ष्टी लेंगे तो अपरोक्ष ब्रह्म तस्य अनुभूति अनुभूति ज्ञान ये ब्रह्म अपरोक्ष कैसे हो गया उसके लिए कहते हैं अक्षाणाम इंद्रिया परम परम अतीतम न भवती अपरोक्षम लक्षण परम परोक्ष जो दृष्टि का अतीत है जो दृष्टि गोचर नहीं हो रहा है जो चक्षु से नहीं दिख रहा है उसको कहा जाएगा परोक्ष तो अक्षानाम नाम अर्थात नाम इंद्रियों को अक्षय कहा जाता है इंद्रिया नाम परम अतीतम जो हो जाएगा उसको प्रत्यक्ष कहेंगे ना परोक्ष कहेंगे परोक्ष जो इंद्रियों का अतीत हो जाएगा उसको परोक्ष कहेंगे परम अतीतम जो हो जाएगा उसको परोक्ष कहेंगे और ये ब्रह्म अपरोक्ष है इसलिए इंद्रिया नाम अतीत होगा नहीं होगा न भगवती अपरोक्षम यह ब्रह्म इंद्रियों का परोक्ष नहीं है तो कैसे नहीं है कहते इंद्रिय अधिष्ठान तत्प्रकाशत्वाभ्याम नित्य प्रत्यक्ष स्व प्रकाश आत्म तत्व स्व प्रकाश आत्मतत्व इंद्रिय अधिष्ठान इंद्रियों का अधिष्ठान वही चैतन्य है पूरा जगत का अधिष्ठान चैतन्य है जैसे कहा गया कि घट का अधिष्ठान है मिट्टी है तो हम जिसको घट कहते हैं उसका अधिष्ठान मिट्टी को क्यों कहते हैं कहते हैं मिट्टी को हटा लेंगे फिर घट दिखेगा नहीं दिखेगा हम जो कहते हैं कि वहाँ घट है घट है अर्थात घट का सत्ता हम स्वीकार करते हैं तो वहाँ वास्तविक घट है ना कोई दूसरे का वहाँ घट है ना मिट्टी है अब क्या उत्तर देंगे मिट्टी है अगर वो कहेगा नहीं नहीं घट है मिट्टी नहीं है फिर हम क्या कहेंगे मिट्टी को हम घटा देंगे तो फिर आपका घट होना चाहिए तो फिर घट में जो है दिख रहा है घटो अस्थि कहते हैं वो वास्तविक है अस्तित्व है किसका मिट्टी का इसी प्रकार की ये इंद्रिय ये जो विद्यमान है कहते हैं इंद्रिय का वास्तविक तत्व तो क्या है कहते चैतन्य है तो ये इंद्रिय इंद्रिय कहाँ से बनते हैं जैसे ज्ञान इंद्रिय ज्ञान इंद्रिय कौन सा अंश से बनेंगे सात्विक अंश से बनेंगे पंच महाभूत का तो ये इंद्रियों का अधिष्ठान तो पंच महाभूत हो जाएंगे ठीक है और ये पंच महाभूतों का अधिष्ठान कौन होंगे अंतिम में चैतन्य में कौन से इसलिए कहा जाता है कि ये जगत पूरा चीज रूप ही जैसे जितने सारे मिट्टी का बर्तन दिख रहे हैं सब मिट्टी ही है इसी प्रकार की ये जगत चिद रूप ही है और ज्ञानियों को ये चिद रूप चक्षु से दिखे हम अज्ञानियों को चक्षु से नहीं दिखेगा ज्ञानियों को चक्षु से दिखेगा क्यों जैसे सोनार को वो गणेश जी का मूर्ति दिखेगा ना सोना दिखेगा सोना सोना दिखेगा तो ये जो सामान्य लोग होंगे उनका चक्षु से तो गणेश जी दिखेगा किंतु वही सोनार को चक्षु से सोना ही दिखेगा इसी प्रकार की ज्ञान योग चक्षु से वो तो ब्रह्म ही दिखा जाए क्यों वो कहते जो दिखता है सर्वम प्रवेदम ब्रह्म वो कहते जो दिखता है वो ब्रह्म ही चक्षु से ब्रह्म ही ग्रहण होता है इंद्रियों का अधिष्ठान और तत् प्रकाश अभियान अच्छा ये अब वो खिड़की बंद कर दी ज्यादा होगा इसलिए ये सब ब्रह्म विद्या शहर में नहीं होने वाले पदार्थ है जो समय बदल रहा है समय बदल रहा था तो, तो हम लोग का वैराग्य कम हो रहा है इसलिए हम लोग शहर में रहते हैं शहर बन गया तो हाँ, अच्छा, ये स्थान अभी छोड़ने का समय हो गया अच्छा, इंद्रिय अधिष्ठान इंद्रियों का अधिष्ठान हो गया वो चैतन्य अधिष्ठान अर्थात जो सत्ता स्फूर्ति देता है उसको अधिष्ठान कहा जाता है घट को सत्ता देती है वो मृत मिट्टी का मृत मिट्टी और घट को स्मृति अर्थात घट पता चलता है अगर मिट्टी को हटा देंगे तो घट पता चलेगा तो घट का स्पूरण नहीं होगा स्पूरण अर्थात ज्ञान ज्ञान होना तो इंद्रियों को सत्ता स्मृति देने वाला ये चैतन्य ही है और तत्प्रकाश तत्प्रकाश अर्थात इंद्रियों का प्रकाश है प्रकाश का सामर्थ्य ये इंद्रियों को कार्य करने का सामर्थ्य कौन देता है कहते हैं वही चैतन्य से सामर्थ्य आता है तो इंद्रियों का अधिष्ठान और इंद्रियों में जो सामर्थ्य है ये दोनों से नित्य प्रत्यक्ष है वो परमात्मा नित्य प्रत्यक्ष अर्थात निश्चित सत्ता को निश्चितम निश्चिता सत्ता यश जैसे हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं और मुख को देख करके हम निश्चित हो जाते हैं ना मुख है बोल करके किंतु वास्तविक हम मुख को देखते हैं ना प्रतिबिंब को देखते हैं प्रतिबिंब को देख करके भी जैसे मुख का मुख की स्थिति जैसे कोई संदेह नहीं रहता निश्चित हो जाता है इसी प्रकार की नित्य प्रत्यक्ष नित्य प्रत्यक्ष अर्थात इसका उपस्थिति में कोई संशय नहीं है स्व प्रकाश स्व प्रकाश अर्थात जैसे वास्तविक दर्पण के सामने खड़े होकर के प्रतिबिंब को देखता है किंतु अपना स्थिति में कितना निश्चय है तभी हम है इसको जानने के लिए दर्पण में प्रतिबिंब को देखना उसको छोड़ करके और खुशी का आवश्यक करता है कि मैं हूँ जानने के लिए तो यह तो मुख्य है इसलिए दर्पण आवश्यक होता है जब ये स्वयं का बात है तो हम है ये जानने के लिए हमको लाइट जलाना पड़ेगा बाकी कुछ कुछ नहीं बुद्धि चलने से पहले हमको अनुभव होता है कि हम जब जागृत स्वप्न में आ जाता है तब तक तो अहंकार कार्य करना आरम्भ करता है जब अहंकार भी नहीं है सुसुप्ति अवस्था में उस अवस्था में भी ज्ञान होता है अहंकार जो कभी उठ करके सुसुप्ति से बाहर आकर के कहता है सुखम अहम अस्वापसम अहम आसम अर्थात सत्ता आकारिता वृद्धि सुसुप्ति में भी होती है अर्थात अपना स्थिति का निश्चय सर्वदा दृढ़ रहता है इसी को कहते हैं नित्य प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष जैसा हम कह देंगे कि पर्वत दिखता है नदी दिखता है इसी प्रकार की इंद्रिय ग्राह्य प्रत्यक्ष नहीं है किंतु अर्थात अन्य किसी का आवश्यक के बिना भी निश्चय होना इसी को कहा जाएगा स्व प्रकाशन और नित्य प्रत्यक्ष अर्थात ये कभी परोक्ष होकर के ज्ञान होगा इस प्रकार की नहीं है दर्पण के सामने जो मुख का ज्ञान हुआ इसको हम प्रतिबिंब को देख करके कह देते मैं प्रत्यक्ष देखता हूँ मुंह को वास्तविक मुख का प्रत्यक्ष नहीं हुआ प्रतिबिंब का प्रत्यक्ष हुआ तो ठीक है पहले है मुख का प्रत्यक्ष किंतु यहाँ ये जो पदार्थ है ये स्वयं ही है तो इसलिए इसको नित्य प्रत्यक्ष कहा जाएगा अर्थात इसका कोई परोक्ष होने वाला ही नहीं है अपने आप कभी परोक्ष नहीं हो जाएगा के प्रत्यक्ष और स्व प्रकाशन स्व प्रकाशन अर्थात जानने के लिए कुछ दूसरों का आवश्यकता नहीं है तो स्व प्रकाश का अर्थ ये तत्व बोध में क्या कहा गया प्रकाशांतर नैरपेक्षण इतर अवभाषक अन्य कोई प्रकाश आवश्यक नहीं है हम अपने आप को जानने के लिए वरम अन्य का अवभाषक ये जगत का प्रकाशक कौन है कहते आप ही आप जानते हैं तो जगत है और नहीं जानते तो जगत नहीं इतर और भाषक तत्व बोध में कहा गया इंद्रिय अधिष्ठान तत् प्रकाशत्वाभ्याम इंद्रिय अधिष्ठान तत् प्रकाशत्वाभ्याम द्वितीय अधिवचन कहा गया तो ये दिवचन होने से घटक पद कितने हो जाएंगे दो दो कौन कौन आ जाएंगे इंद्रिय अधिष्ठान प्रकाश इसमें कुछ पद है हाँ। इंद्रिय अधिष्ठान तत्प्रकाश इंद्रिय अधिष्ठान तत्प्रकाश सौ आदि हेतु तत्व तो अभी समास का अंत में सूर्यमाण है सुनाई जाता है इसलिए किसके साथ जाएगा दोनों के साथ जाएगा अर्थात इंद्रिय अधिष्ठान अर्थात प्रकाश पंचमी कर सकते हैं तृतीया कर सकते हैं हेतु में पंचमी अगर पंचमी करेंगे तो हेतु में पंचमी इस हेतु से अर्थात इंद्रिय अधिष्ठान तो हेतु परमात्मा में रहेगा और इंद्रियों का सामर्थ्य ये भी परमात्मा में रहेगा इंद्रियों को सामर्थ्य देने वाला भी परमात्मा में रहेगा और इसलिए वो नित्य प्रत्यक्ष नित्य प्रत्यक्ष अर्थात जैसे घटपट नदी पर्वत भिन्न विषयत्व प्रत्यक्ष ये विषय ज्ञान प्रत्यक्ष नहीं है अविषय ज्ञान मैं ही तो हूँ मेरे से भिन्न नहीं है क्या चीज तो प्रकाश नित्य नित्य प्रत्यक्ष अच्छा नित्य प्रत्यक्ष इसका अर्थ ये कह सकते हैं निश्चित सत्ता को निश्चिता सत्ता यश मतलब अर्थात यहाँ तक नित्य प्रत्यक्ष है तो ये तो कर्मदार है तथा नित्यम यहाँ तो नित्यम ये क्रिया विशेषण है नित्यम यथा सियाद तथा प्रत्यक्ष जैसा प्रत्यक्ष होने से माना जाएगा कि नित्य प्रत्यक्ष नहीं तो ये पर्वत ये हमको कभी प्रत्यक्ष होता है लेकिन हमेशा होता है किंतु अहम ये कभी अहम कभी परोक्ष हो जाता है कभी भी नहीं होगा तो इसलिए इसको कहा जाता है नित्य प्रत्यक्ष अर्थात ये क्रिया विशेषण है नित्यम यथा सियाद तथा प्रत्यक्ष समाज तो किन्तु तृतीया ना यहाँ तृतीया नहीं होगा जैसे निर्विघ्न परिसमाप्ति करते हैं निर्विघ्न यथा से तथा परिसमाप्ति वहाँ तृतीया निर्विघ्न परिसमाप्ति यहाँ ऐसे नित्य तो न प्रत्यक्ष नहीं है यहाँ तो नित्य प्रत्यक्ष किस प्रकार नित्य प्रत्यक्ष स्वप्रकाश स्वप्रकाश तो कर्मचारी नित्य प्रत्यक्ष असौ स्वप्रकाश नित्य प्रत्यक्ष असौ स्वप्रकाश आगे क्या शब्द है वहाँ क्या समझ होगा नित्य प्रत्यक्ष कौन हुआ स्वप्रकाश हुआ वो कौन है तो आगे क्या समझ होगा जो स्वप्रकाश हुआ वही आत्म तत्व हो गया तो नित्य प्रत्यक्ष भी वही है स्वप्रकाश भी वही है आत्म तो ये किस शब्द का अर्थ हो गया अप्रोक्ष शब्द का अरे तस्य अनुभूति ये हो गया अप्रोक्ष अनुभूति अनुभूति शब्द का अर्थ क्या है कहते हैं वृत्ति आरूढ़ा अखंडता वृत्ति में आरूढ़ बना वृत्ति में आरूढ़ बना अर्थात वृत्ति का विषय बनना वृत्ति अर्थात अंतकरण का परिणाम हमारे सामने अभी गंगा जी है तो हमको किस आकार वृत्ति होगी गंगा आकार वृत्ति होगी तो जब गंगा का वृद्धि होगी अभी गंगा का जो स्वभाव है वो वृद्धि में आ जाएगा अर्थात गंगा ऐसे प्रवाहमान है ऐसे बहने वाली है ऐसा जल है नीला दिखता है जो भी है इसी प्रकार की जब अभी आत्म तत्व तो वृद्धि का विषय बनेगा तभी आत्म तत्व तो वृद्धि में आरूढ़ होगा कहा जाएगा आरूढ़ होने का अर्थात ऊपर में आरोहण किया चढ़ा हुआ तो जैसे कहते हैं कि गंगाकार वृद्धि हुआ है तो वृद्धि में गंगा जी बैठे हुए हैं अर्थात वृद्धि तद तो विषय का हुआ इसी प्रकार की यहाँ वृत्ति आत्माकार हो गया ब्रह्माकार हो गया अभी वृद्धि ब्रह्माकार होने से ब्रह्म का जो शोभा वो सब वृद्धि में भान होने लगेंगे तो ब्रह्म का स्वभाव क्या है अखंड अखंड अर्थात परिच्छेद नहीं है जैसे हमको गंगाकार वृद्धि होती है उस समय में लगेगा कि गंगा पर्वत से भिन्न है हम गंगा जी को जानने वाले हैं ये सब भान होगा किंतु जिस समय में ये ब्रह्मांडा वृद्धि होगी उस समय में कोई परिच्छेद का भान नहीं जाएगा इसको कहा जाएगा अखंड कोई परिच्छेद का भान नहीं होगा ये अखंड ब्रह्म का आत्मा का स्वभाव है अभी का वृद्धि होने से अभी वृद्धि में भी वो अखंडता का भान होगा अर्थात ब्रह्माकार वृद्धि होने का समय में मैं ये हूँ कल था अभी दिन है रात है वो सब अभी ऋषिकेश में हो कहा हो ये सब कुछ नहीं आए ये अर्थात तो सत्ता मात्र विद्यमान चीन मात्र का अनुभव होगा द्वितीयारूढ़ अखंडता तभी अपरोक्ष अनुभूति शब्द का अर्थ हो गया कि ब्रह्माकार वृत्ति में ब्रह्म का ब्रह्म उसका अखंडता का भान होना ये हो गया ब्रह्माकार वृत्ति यदवा अथवा दूसरा अर्थ देते हैं कहते हैं अभी जा रहे हैं कहा जा रहे हैं कितने पाठ है क्या पाठ है अपरोक्ष अनुभूति पाठ है तो क्या अखंड और माँ का अनुभूति करवाया जाएगा नहीं तो अपरोक्ष अनुभूति पाठ है कहते हैं तो अपरोक्ष अनुभूति शब्द से अभी किसको कह रहे हैं ग्रंथ को कह रहे हैं तो इसके लिए कहते हैं यदवा अपरोक्षा विद्या अपरपर्यायो ब्रह्म साक्षात्कार असौ अनुभूतिश्च असौ अनुभूति तो ये असौ अनुभूति क्या सूत्र होगा अभी अपरोक्षा च असौ अनुभूतिश्च क्या समाज हुआ इसमें पहले क्या समझ किया गया था अभी तो अर्थात तो वो अनुभूति वही अप्रोक्षा है इति ये कौन है कहते हैं विद्या विद्या अर्थात ब्रह्मा का बुद्धि विद्या अपर पर्याय अर्थात ब्रह्म साक्षात्कार किसी को ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है ब्रह्माकार वृद्धि कहा जाता है ब्रह्म विद्या कहा जाता है ये ब्रह्म साक्षात्कार प्रथम क्या कहा गया था ब्रह्म साक्षात्कार में जो अखंडता का भान हो अभी कहते हैं कि अपरोक्ष अनुभूति का अर्थ हो गया ब्रह्म साक्षात्कार अर्थात ब्रह्म ज्ञान अभी अपरोक्ष अनुभूति शब्द का अर्थ हो गया ब्रह्म ज्ञान जो तत् साधन ग्रंथो की उपनिषद शब्दवत अनुभूति शब्द न उपचर्यते अभी तत् साधन तत् से पूर्व में क्या कहा गया साक्षात्कार ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म ज्ञान का साधन है ये ग्रंथ क्योंकि ग्रंथ ही अध्ययन करेंगे तो तत् साधन ग्रंथों की उपनिषद शब्दवत उपनिषद शब्द का साक्षात अर्थ होता है ब्रह्माकार वृत्ति जब ब्रह्माकार वृत्ति को उपनिषद कहा जाएगा कि जो तो कराने वाले हो गए मंत्र महावाक्य तो इसीलिए मंत्र को उपनिषद कहा जाएगा और ये उपनिषद अभी ग्रंथ में उपलब्ध होता है तो इसीलिए ये ग्रंथ को भी उपनिषद कह दिया गया वहाँ दो सीढ़ी उतर है ब्रह्मा का वृद्धि मुख्य उपनिषद शब्द का अर्थ है और वहाँ से मंत्र क्योंकि पूर्व काल में ग्रंथ नहीं था सब इसलिए मंत्र को ही उपनिषद कहा जाता है क्योंकि श्रवण होता था गुरुमुख से श्रवण करते तो मंत्र को उपनिषद कहा जाता था फिर जब लिखना आरंभ हो गया अभी ग्रंथों को उपनिषद कहते कठोपनिषद पाठ चलता है वेदारण्य को उपनिषद होगा तो कहेंगे तो ग्रंथों को जैसा कह देते हैं यहाँ होगा देते हैं तत् तो साधना ग्रंथों की दृष्टांत तो देते हैं उपनिषद शब्दवत उपनिषद शब्द जैसा उपनिषद शब्द ग्रंथ में भी प्रयोग हो जाता है इसी प्रकार की यह ग्रंथ को भी अनुभूति शब्द न उपचर्यते उपचर्यते गौण प्रयोग तो गौण प्रयोग अर्थात तो जैसे कहते हैं अग्नि मानव हाँ, ये जो बालक है वो अग्नि है बालक अग्नि कैसे हो जाएगा कहते हैं अग्नि जैसा तेजस्वी है कहने वाला भी जानता है कि बालक अग्नि नहीं है सुनने वाला भी जानता है किंतु तो कहने वाला जो कहता है सुनने वाला समझ जाता है इसको कहते हैं गौण प्रयोग मुख्य नहीं करता तो यहाँ भी यह ग्रंथ को अनुभूति कहना ये गौण प्रयोग ये मुख्य अर्थ नहीं है इसका अर्थ कहते हैं झटिति अवलोकन मात्रेण उत्तमाधिकारी ब्रह्म साक्षात्कार कारण ग्रंथ विशेष झटिति झटिति का अर्थ शीघ्र अवलोकन मात्रेण केवल देखने से ही देखने अर्थात खाली देख लिया ऐसे नहीं अर्थात पढ़ लिया एक बार पढ़ लेने से भी उत्तम अधिकारी नाम ब्रह्म साक्षात्कार कारण जो उत्तम अधिकारी है उनको एक बार पढ़ने से भी ब्रह्म साक्षात्कार हो जाएगा उत्तम अधिकारी अर्थात साधन चतुष्ट दृढ़ है मन में कोई विषय वासना नहीं है जैसे शास्त्र में आता है सनत कुमार इत्यादि तो उनका जन्म हुआ ब्रह्मा जी उनको उत्पन्न किया सृष्टि करने के लिए और सृष्टि करने से पहले अज्ञानी होकर के सृष्टि करेंगे तो अनर्थ ही करेंगे तो इसलिए सर्वदा ये हमारा शास्त्र भी उसी मुताबिक कहते है संसार में जाने से पहले शास्त्र अध्ययन गुरुकुलों में करना है तभी जाकर के संसार में जाना नहीं तो पता ही नहीं चलेगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए संसार में केवल अनर्थ ही करेगा भोग करेगा और उसमें बढ़ जाएगा इसलिए पहले ज्ञान होना चाहिए आगे कर्म करना चाहिए तो यहाँ इस प्रकार की सृष्टि जो करेगा अगर वो अज्ञानी होगा ये तो अनर्थ कर देगा और स्वयं उसमें बढ़ जाएगा इसलिए प्रथम ज्ञान होना चाहिए ब्रह्मा जी जो हिरण्य गर्भ होता है वो सृष्टि करने से पहले ज्ञान होता है प्रथम क्षण उत्पन्न होगा द्वितीय क्षण भय हो गया और कौन हूँ से आ गया तृतीय क्षण ज्ञान हो गया आगे सृष्टि करेगा जाया में सियाद अथ प्रजा ये आगे इस प्रकार की करेगा तो, ज्ञान होने के बाद ही आगे कर्म करना है ये सनत कुमार इत्यादि को ब्रह्मा जी ज्ञान का निर्देश करते हैं और वो लोग पिताजी हो गया अब हम चलते हैं चले जाएंगे विशिष्ट नहीं है क्यों उत्तम अधिकारी तो जो उत्तम अधिकारी होगा एक बार सुनने से ज्ञान हो जाएगा अच्छा झटिति अवलोकन मात्र उत्तम अधिकारी नाम ब्रह्म साक्षात्कार का कारण ये ग्रंथ उत्तम अधिकारी एक बार अगर अध्ययन किया तो उसको हो जाएगा अर्थात अपरोक्ष अनुभूति शब्द से यह ग्रंथ को कहा जाने से नित्य अपरोक्ष ब्रह्मात्म तत्व विषय हो युव दर्शित सप्रोक्षते अभी ये ग्रंथ में अपरोक्ष अनुभूति ही कहा जाता है तो अपरोक्ष अनुभूति करने से ब्रह्म साक्षात्कार तो नित्य अपरोक्ष ब्रह्म वही हो गया आत्म तत्व उसी को विषय करता है ये ग्रंथ नित्य अपरोक्ष ब्रह्मात्म तत्व वही विषय है यहाँ बहुरी नहीं है कर्मधारय है नित्य अपरोक्ष ब्रह्मात्म तत्व स विषय वो विषय दर्शित दर्शित अर्थात दिखाया गया जो जो विषय दिखाया गया स प्रोच तो ग्रंथ का जो विषय नित्य अपरोक्ष ब्रह्मा ब्रह्मात्म तत्व ब्रह्मात्मा वही तत्व तत्व अर्थात उसका जो सार है एसेंस प्रोच्य प्रोच्यते अर्थात प्रकर्षण उचित है तक कहा जा रहा है क्रिया प्रकर्षण बढ़िया करके उच्चते इसका क्या अर्थ प्रकृति कहते हैं तत्द आशंका निराकरण पूर्वकम सिद्धांत रहस्य प्रदर्शन प्रदर्शन रूपेण उच्यते कथ्यते तत्द आशंका निराकरण पूर्वकम जितने सारे शंका हो सकती है वो सबका निराकरण करते हुए नहीं तो ग्रंथ तो यहाँ से वहां तक तो पढ़ लिए और जितना शंका हुआ तो कहेंगे वो तो एक भी हमको तो उत्तर ही नहीं मिला सब रह गया इस प्रकार की अध्ययन नहीं होता है अर्थात जो गुरु का जो अध्ययन होता है ऐसा नहीं कि हमको जो बोलना है हम बोल दिया आपको समझ में आया तो आया नहीं तो फिर आप देखो जाके कमरे में पढ़ो नहीं दूसरों को पूछो ऐसा नहीं होता है अर्थात जितना शंका है वो सब शंका का निराकरण पूर्वक अगर एक ग्रंथ में शंका निराकरण होकर एक ही ज्ञान हो गया ये क्यों हमको सारे मंत्र मतलब क्यों पढ़ना है तत्त आशंका निराकरण पूर्वकम सिद्धांत रहस्य प्रदर्शन रूपेण उचित सिद्धांत वेदांत सिद्धांत का जो रहस्य उसको दिखाया जा रहा है ये हो गया उचित और प्र क्या हो गया सारे शंका का निवृत्त करते हुए अर्थात उसको प्रकर्ष कहा जाएगा नहीं तो खाली उचित कहा जाएगा और प्रोच्छेद नहीं कहा जाएगा उच्चते तो ऐसे कर्मणि प्रयोग किया गया कहा जा रहा है तो किसके द्वारा कहते हैं अस्मादि ये वाक्य भगवान भाष्यकार कह रहे हैं तो भगवान भाष्यकार कहते हैं अस्मादि वो कहेगा आप कह दिए तो आप कहे थे अपना मन से कुछ कह देते हैं इसलिए कहते हैं पूर्वाचार्य अर्थात अभिहार मैं नहीं कह रहा हूँ पूर्वाचार्य इसलिए कहते हैं परम्परागत अध्ययन नहीं तो क्या है ये तात्पर्य इसका इतना गूढ़ है इतना गंभीर है ये हर जगह में हम गलत अर्थ लगा ले सकते हैं इसलिए कहा जाता है कि इसको तो गुरु मुख से श्रवण करना है इसका क्या अर्थ होना चाहिए नहीं तो हमारा बुद्धि में कुछ ना कुछ आ जाए तो परम्परा से ये विद्या ग्रहण होता है पूर्वाचार्य इसलिए कह रहे हैं दस साल कितने दस साल पढ़ा फिर आगे पूछेंगे किन से पढ़ा ये भी पूछेंगे क्यों वो परंपरा वाले है क्या तो हम हाँ, वो परंपरा वाला है क्योंकि उनसे तो हम एक दो साल पढ़ा फिर ये फिर ये अभी परंपरा वाले नहीं होगा अर्थात परंपरा व्यक्ति से पढ़ना है और ये भी परंपरा से पूरा श्रवण किया है नहीं तो दो चार घंटा श्रवण किया आगे दो चार तो अपना लगा लिया इस प्रकार नहीं होता भी अर्थात अध्यापक ठीक है आज यहाँ तक